धर्मी के लिए लक्षण किया गया पुत्र शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी इसमें से कितने हुआ तो कौन किमर्थम अतीत अनंतरा न होते वर्तमान अतीत पहले अनागत अवस्था कथ में वर्तमान उसके पश्चात है अतीत अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं ठीक है हमें किम निमित्तम किमर्थम का किम निमित्तम अतीत से अनंतरा न भवंती वर्तमान इत्यर्थ किम किम निमित्तम में समास है दो पद है फल में किम निमित्तम किमर्थम में क्या कैसे समास होगा किमर्थम हम्म। किमर्थम का विग्रह को अर्थ यश कस्य हाँ को अर्थ से आगे किमर्थ किमर्थम तस्मय हम्म। ये ये विजय समास हाँ कुछ दो प्रकार होता है क्या पहले क्या हाँ को अर्थ यश्य अर्थ शब्द पुलिंग होता है को अर्थोयस्य स किम अर्थ किम सु अर्थ सु बहुग्री हो जाएगा अन्य का मन्य पदार्थ है और तस्में इदम इति किमर्थम ये हो जाएगा चतुर्थी तदर्थात बलिहित सुदर्शित अर्थ के साथ समास होता है अर्थ में नित्य समास हो विशेष लिंगता से लघुतम दिन में बीजार्थम पय और व्यवहार तो दो प्रकार तस्में इदम इति किमर्थम किम निमित्तम क्या इसका निमित्त कारण है अतीत से है वर्तमान होती अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं होते हैं उसका हेतु देते पूर्व पश्चिमताया अभाव पूर्वापर भाव होगा तो अनंतर होगा पहले अतीत हो उसके बाद वर्तमान हो तो अनंतर होगा टीका नहीं पूर्व पश्चिमताया अभाव पूर्वोत्तर पश्चिमत्व तो पूर्वोत्तर पश्चात्व नहीं है विषयण विषय विषयिणी विषयिनी अनुपलब्धि सूचयती विषय से विषयी सूचित करते हैं विषय से विषयी इसके कुछ अर्थ कोई बता सकते हो विषय में अनुपलब्धि सूचयती जो हेतु दिया पूर्व पश्चिमताया अभाव पूर्वत्व और पश्चिमत्व नहीं है अभाव है पूर्वत्व पश्चिमत्व नहीं है घट धूम नहीं है अथर्वन्य नहीं है पर्वत में वन्य निश्चय होता है कस्मा धूम सत्वाद पर्वत वर्णी निश्चय होती कस्मा धूम से सत्वाद धूम जहाँ है वहाँ वर्णी निश्चय हो जाता है नहीं धूम जहाँ रहेगा वहाँ वर्णी निश्चय हो जाता है हम्म? हो जाता है नहीं धूम जहाँ है वहाँ वर्णी निश्चय हो जाता है नहीं होता है धूम इसे धारावाहिक के नीचे से ऊपर निकलता है सर्वर्ण ज्ञान हो जाएगा ध्रुम ज्ञान के बिना यदि ध्रुम है और नीचे से ऊपर निकलता है किंतु आपको पता नहीं है सर्वर्ण ज्ञान हो जाएगा तो ध्रुम सत्य वर्ण निश्चय होते नहीं ध्रुम से ज्ञाते वन निश्चय होता है जो तो ध्रुम रहने से वन्य है जो कहते हैं ध्रुम के ज्ञान होने से वन्य ज्ञान होगा धूम रहने मात्र से बनने निश्चय नहीं होगा हमको मालूम नहीं धूम है करके धूम रहेगा तो सबको निश्चय हो जाएगा क्या अभी पर्वत में धूम है दिखता है सबको निश्चय है दिखता है पीछे किस पर्वत में धूम है निश्चय है उस पर्वत का नाम लेंगे तो वन्य निश्चय हो जाएगा तो धूम निश्चय होने से वन्य निश्चय होता है को कहते समय कहते धूम होने से वन्य निश्चय हो गया धूम हो गया निश्चय का विषय ज्ञान का विषय विषयवाचक शब्द से विषय लेना धूम होने से बने नहीं धूम ज्ञान से बनी ज्ञान होता है तो धूम बनी होता है विषय विषयवाचक शब्द से कहीं कहीं विषयवाचक ज्ञान लेना वन्नी है कैसे धूम होने से धूम होने से नहीं धूम ज्ञान होने से वन्य से होता है इसी प्रकार यहाँ पूर्व पश्चिमता अभावात्य दिया पूर्वत्व और पश्चिमत्व नहीं है पूर्वत्व पश्चिमत्व नहीं होने से अतीत के बाद वर्तमान नहीं होता है पूर्वत्व पश्चिमत्व का ज्ञान नहीं होने से पूर्वत्व और पश्चिमत्व का ज्ञान नहीं होने से अतीत के बाद वर्तमान नहीं होते हैं ये कहना चाहिए तो पूर्वत्व ज्ञान पश्चिमत्व ज्ञान ये ज्ञान कहना चाहिए पूर्वत्व ज्ञान पश्चिमत्व ज्ञान नहीं है तो विषय है पूर्वत्व पश्चिमत्व उसे विषय ले लिया ज्ञान पूर्वत्व ज्ञान और पश्चिमत्व ज्ञान ऐसा है क्या है पूर्वत्व और पश्चिमत्व ज्ञान है अस्तित्व के बाद वर्तमान में नहीं नहीं मतलब उसका ज्ञान नहीं है तो अनुपलब्धि है विषय हो गया अनुपलब्धि विषय पूर्वोत्तर पश्चिम तो दोनों का ज्ञान है अज्ञान है अज्ञान है तो अनुकूल तो विषय पूर्वोत्तर पश्चिम वाचक तो शब्द से विषय लेना ज्ञान ज्ञान नहीं तो अज्ञान है अनुपलब्धि तो विषयन विषयनम अनुपलब्धि सूचेगी विषयवाचक शब्द हो गया पूर्वत्व पश्चिमत्व तो उसे विषय लेना यहाँ ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का अभाव अनुपलब्धि है अज्ञान है अनुपलब्धि है विषय तो विषय से विषयी अनुपलब्धि लेते हैं अर्थात पूर्वत्व पश्चिमत्व का उपलम्ब नहीं होने से पूर्वत्व पश्चिमत्व का अनुभव नहीं होने से अनुपलम्भम एवं उपलम्भ वैषम्य में दर्शयती अनुपलम्ब अनुपलब्धि उपलब्धि नहीं है इसलिए पूर्वत्व पश्चिमत्व नहीं होता है उपलम्भ वैषम्य उपलम्भ का वैषम्य उपलब्धि में विषमता दिखाते है यथा यथा अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता नैवम अतीत अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता अस्ति अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता अस्ति न अनागत पूर्वत्व पश्चिमत्व अनागत पूर्वत्व पश्चिमत्व पूर्वत्व वर्तमान से पश्चिम पश्चात भाई अनागत पहले वर्तमान बाद में घट में अनागत पहले रहेगा या पहले वर्तमान रहेगा अनागत पहले वर्तमान बाद में तो अनागत वर्तमान हो पूर्व पश्चिमता पूर्वत्व पश्चिमत्व से अनागत किम अस्ती पूर्वत्व वर्तमान पश्चिम अनागत वर्तमान हो पूर्व पश्चिमता यथा अस्ति अनागत वर्तमान में पूर्व पश्चिम तो है एवं अतीत अतीत में से नहीं अतीत और वर्तमान में अनागत वर्तमान में तो है अतीत वर्तमान में पहले अतीत होगा उसके बाद वर्तमान होता है पूर्व पश्चिम होता नहीं तस्मात न अतीत अति समान्तर अतीत के समान्तर वर्तमान का नहीं है अतीत के समान्तर नहीं टीका नहीं उपसंहार की तद तद अनागत समानांतर भवती वर्तमान से इसलिए वर्तमान अनागत समानांतर होती वर्तमान से वर्तमान के समानांतर क्या होगा अनागत होगा वर्तमान के समानांतर अनागत लिखा है अनागत समानांतर होती वर्तमान से अनागत ही समानांतर होगा वर्तमान का वर्तमान का समानांतर अनागत है होगा वर्तमान का समानांतर अनागत हो जाएगा इसका क्या अर्थ वर्तमान का समानांतर अनागत का क्या अर्थ है वर्तमान और अनागत ये दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं ये हो सकता है क्या अनागत लो वर्तमान ये दोनों के बीच में समा व्यवधान नहीं है अनंतर का क्या है समानांतर का बाद में हाँ अनंतर का तो बाद में नहीं है अनंतर है अंतर है व्यवधान अनंतर है अव्यवहित सम्यक अव्यवहित सम्यक अव्यवहित अनागत वर्तमान में हो सकता है पहले अनागत है उसके बाद वर्तमान अव्यवहित है व्यवधान है हैं अव्यवहित है पहले अनागत उसके बाद वर्तमान तो वर्तमान का समानांतर अव्यवहित पूर्व अनागत है क्या है तो समानांतर नहीं होगा अनंतर का बाद में नहीं अव्यवहित पूर्व में अनागत एवं समानांतर भवती वर्तमान से वर्तमान के समानांतर सम्यक अनंतर मत व्यवधान रहित है अनागत वर्तमान के पूर्व क्षण में वर्तमान के पूर्व में अनागत होता है तद का तो तस्मात तद अनागत एवं समानांतर भवती वर्तमान से टीका में तत्काश तस्मा अनागत समानांतर कस्य वर्तमान से समानांतर का क्या अर्थ दिया पूर्वत्व भवती समांतर का अनागत पूर्वत्व भवती वर्तमान से वर्तमान के पूर्व होता है अनागत उसको समानांतर कहा जाइए हाँ, न अतीत अनागत वर्तमान से पुरातन होती अतीत नहीं अतीत से वर्तमान पूर्वत्व समन्तर न अव्यपदेच्य अतीत से वर्तमान पूर्वत्व समन्तर अतीत का वर्तमान होता है पूर्व पूर्व में वर्तमान उसके पश्चात अतीत तो अतीत का वर्तमान पूर्व होगा क्या कौन पूर्व होगा वर्तमान किसके अतीत का वर्तमान पूर्वत्व होती समानांतर न अव्यपदेश अतीत का अव्यपदेश पूर्वत्व में समानांतर होगा अतीत का पूर्वत्व अव्यपदेश का तो भावी अनागत अतीत का पूर्व होता है अनागत अतीत के पूर्व अनागत है नहीं अतीत के पूर्व अनागत है अतीत के पूर्व अनागत है किंतु व्यवहित है किसके द्वारा व्यवधान अव्यवहित नहीं अतीत अनागत बीच में है पहले अतीत उसके बाद नहीं पहले अनागत वर्तमान अतीत तो अतीत के पूर्व में है अनागत अव्यवहित है इस अतीत से वर्तमान पूर्वत्व समानांतर भवती अव्यपदेश अव्यपदेश समानांतर न भवती अतीत के पूर्वत्व समानांतर कौन होगा अतीत के पूर्वत्व समानांतर होगा वर्तमान अतीत के पूर्वत्व समानांतर अनागत है नहीं नहीं है वही देखा अतीत से वर्तमान पूर्वत्व समानांतर हो न अव्यपदेश अव्यपदेश अतीत पूर्वत्व समानांतरो न भवती तस्मात् यविष्ठो अतीत इति सिद्धम अध्वनाम कालानाम तीन वर्तमान अनागत वर्तमान अतीत तीनों में यविष्ठो अतीत यविष्ठ क्या मालूम है युव शब्द से ईष्ठन हो जाते यविष्ठ बनेगा बहुल तीर्थ वृंदार का नाम प्रस्थ युवक यविष्ट युवन शब्द को यव आदेश यवत तो इष्ठन हो जाए यविष्ट युवतम अतीत होता है युवतम वृद्धतम कौन होगा अनागतम अभी सबसे छोटा है अतीत उसके पहले था वर्तमान उसके पहले था अनागत पहले अनागत होता है पहले अतीत होता है अनागत के बाद वर्तमान उसके बाद हाँ तीन पांच भाई में से पीछे जो जन्म होगा युवतम है या बुद्धतम है इसमें अतीत अनागत वर्तमान में युवतम कौन है तब छोटा भाई अतीत है तस्मात अनागत क्या अध्वनाम यविष्ठु अतीत सिद्धम यह युवतम है सबसे छोटा है निकृष्ट है यविष्ट का तो निकृष्ट है सबसे छोटा है कौन छोटा हुआ अतीत सियाद अनुभ्यमाना अनु उदित अतिथो शक्यो उन्नेतुम अव्यपदेशास्तु पूर्वधर्म अव्यपदेश्यतया एव शक्या नोन्नेतुम इति आशयवान पृछति अनुभूयमान अनुभूत यह अनुभूयमान सकह यो अनुभूयमान सक वर्तमान अनुभूयमान अनुभूयते यो अनुभूयते अनुभव का विषय वर्तमान है अनुभूयमान वर्तमान अनुभूयते जो अनुभव कर्मणि है अनुभूयते अहम अनुभवामी घटम अनुभवामी भूदत्त सकर्म के या अकर्म के हम्म? अकर्म के अहम घटम अनुभवानी ये बनेगा घट उसका कर्म बनेगा अहम सुखम अनुभवामी शीतम अनुभवामी घटम अनुभवामी बनेगा भू धातु अकर्म के अणु जोड़ देंगे तो सकर्मक हो जाता है अहम अनुभवामी सकर्म कहे घटो अनुभूयते मया घटो अनुभूयते अहम घटम अनुभवामी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हो जाएगा घटो मया अनुभूयते अनुभूयमान कह वर्तमान वर्तमान का अनुभव अभी कर रहा हूँ मया अनुभूयते कह वर्तमान वर्तमान अनुभूयमान और अनुभूत क्या है अनुभूत कह अतीत अतीत है अनुभूत अनुभव हुआ था अनुभूत है अतीत अनुभूयमान हो गया वर्तमान ये दोनों अनुभूयमानतया अनुभूततया उदिता अतीतो उन्ने तुम शक्यो अनुभूयमान होता है उदित अनुभूत हो गया अतीत उदित अतीत हो गया उदित अतीत उदित अतीत उदित कह यो अनुभ्यमान अनुभ्यमान कह यह उदित अतीत व उदित यह अतीत स कह अनुभूत देखो अनुभूयमान अनुभूत तया उदित अतीत सक्यो पुण्य तुम ये दोनों का अतीत और वर्तमान दोनों का उन्नयन कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जो अनुभ्यमान है वह वर्तमान है जिसका अनुभव हो गया वो अतीत हो गया ये दोनों का तो उन्नयन हो जाएगा कल्पना कर लेंगे अव्यपदेशास्तु पुनर्धर्मा जो अव्यपदेश धर्म है घट बना नहीं आगे बनेगा आगे कब बनेगा बनेगा नहीं बनेगा मिट्टी रखा गया पत्थर है बड़ा पत्थर बहुत दिन से पड़ा है उसमें कोई आगे मूर्ति बनाएगा वो तो मूर्ति अभी है ना नहीं पत्थर में है? है कहने बना अनागत तो अनागत भी दिखता है तो गणित बना कोई बनाएगा पत्थर में पत्थर पड़ा हुआ तो अव्यवेद से अभी दिखता नहीं तो या एवं तो क्या ले तो एवं है क्या है एवं एवं एवं नहीं अनुसार था क्या पुराने पुस्तक में एवं है अव्यपदेश जो अव्यपदेश है वो तो प्रत्यक्ष नहीं होता है आगे बनेगा बना नहीं उसका कैसे कल, उसकी कल्पना करेंगे न उन्हें तुम सक्या एवं एवं कहीं पाठ बना है एवं एवं इस प्रकार न उन्हें तुम सक्या इसे आशयवान पृछते से अभिप्राय वाले पूछते है भाष्य में अथा व्यपदेश के अव्यपदेश कौन है कैसे पता चलेगा टीका में अव्यपदेश के केस समीक्षा में है अव्यपदेश कौन है और किन में हम उनको देखेंगे हम देखेंगे अव्यपदेश को अत्र उत्तर माह सर्व सर्वात्मक सर्व सर्वात्मक सर्व सर्वात्मक होने से यत्र उत्तम ठीक है सर्व सर्वात्मक यत्र उत्तम जल जलभूमि पारिनामिक रसादि वैश्वरूप्यम आवरेश दृष्टम जलभूमि पारिणामिकम जल और पृथ्वी ये दोनों का परिणाम रूप रसादि है रसादि वैश्व रूपम वैचित्र विचित्र है विचित्र रसादि स्वरूप दिखता है जल का पृथ्वी का रसादि विलक्षण दिखता है आवरेशु उद्भिद जन्य तावर विचार में जल पृथ्वी का वैलक्षण दिखता है रस आदि जल पृथ्वी उसमें गन्ना भी है नींबू है मिर्ची है सब पृथ्वी में होते हैं जल कारण है पृथ्वी कारण रस के लिए पृथ्वी कारण नहीं पृथ्वी भी है जल भी है तो जलभूमि हो पारिणामिकम रसादि वैश्विकम सागर में दिखाया गया परिणाम मधुर है अम्ल है सब कुछ है तथा स्थावराणाम जंगम स्थावरों का परिणाम जंगम में स्थावर का परिणाम जंगम में प्राणी से ऋग्विजय में स्थावर का परिणाम जंगमा स्थावर से और जंगम का परिणाम स्थावर में चलने फिरने वाले जंगल में उनका परिणाम ठावर वृक्षण इति ठीक है जल से ही रस रूप स्पर्श शब्दवत जल में रूप है या रस है धुने स्पर्श नहीं तो स्पर्श है शब्द शब्द बुलु बुलु ध्वनि पंचदशी से पढ़ी शब्द में क्या ध्वनि बुलु बुलु रस रूप स्पर्श शब्दवत कस्य जल से भूमि गंध रस रूप स्पर्श शब्दवत्या पृथ्वी में कितने गुण है ये पांच रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांच अन्य गुण भी है ये पांचों है तेज में कितने है सी में रूप है नहीं रूप है ना नहीं रस है नहीं गंध है नहीं क्या नहीं स्पर्श नहीं रस और गंध क्या नहीं वायु में क्या नहीं रूप रूप स्पर्श रूप रस गंध इसी प्रकार देखो गंधर्व आदि पांच गुण पर पारिणामिकम वनस्पति लता गुण आदिशु वनस्पति लता गुण पेड़ पौधे में दिखता है मूल फल प्रसव पल्लवादि गतरसादि वैश्य दृष्टम मूल में फल में प्रसव है फूल है पल्लव पत्र है इसमें तदगत रसादि वैश्य रूपम रस अलग अलग होता है पृथ्वी जल से पृथ्वी में रस रूप शब्द है चार गुण भूमि पृथ्वी में पांच गुण जल में चार गुण किंतु उसका परिणाम वृक्ष पेड़ पौधे में अलग अलग है किसमें कैसे रस है तुलसी पत्र का रस कैसे बिल्ले पत्र का रस कैसे फल में कितने अलग अलग है इस विलक्षण दिखता है स्वयं अनेवम अनेव आत्मिकाय भूमेर अनिदृश्य से व जल से न परिणाम भविष्य जो नींबू खटा है पृथ्वी खटा है या जल खटा है दोनों नहीं मिर्ची जैसे तीखा है पृथ्वी मिट्टी खाए देखो पानी पियो इतने मिर्ची में नहीं गन्ना में मीठा है पृथ्वी में जल में नहीं है अनेव आत्मिकाया भूमि है इस प्रकार नहीं है जैसे पेड़ पौधे में गंध है बिल्लो पत्थर का जैसे गंध है तुलसी पत्र में गंध है मिट्टी में से मिट्टी से निकलता है गंध अन्य का भूमि इस प्रकार नहीं जल भी ऐसा नहीं तो परिणाम होता है न परिणाम हो तो मरती परिणाम यदि जो परिणाम दिखता है नींबू मिर्ची आदि में यदि वो रूप रस पृथ्वी जल में नहीं होगा तो नींबू आदि में कहाँ जाएगा तो वहाँ है अनुभूत नहीं होता है अभ्यक्त किंतु है यदि पृथ्वी में से रस नहीं होगा तो कहाँ से गन्ना में नींबू में आएगा नींबू में जो अम्ल है गन्ना में मधुर है अलग अलग रस आता है यदि जल में पृथ्वी में ऐसा रस नहीं होगा तो कहाँ से आएगा तो क्या मानना पड़ेगा जल पृथ्वी में इसे रूप इस रस है मानना पड़ेगा क्योंकि यदि नहीं असत्य की उत्पत्ति होती है क्या न असत्य क्या भूमि जो खाते देखते हैं ऐसे खटा मीठा नहीं है किंतु जब पेड़ पौधा में खटा मीठा आ गया जल पृथ्वी से मानना पड़ेगा जल पृथ्वी में ऐसे रस है इसमें क्या होगा उपादित में न असद उत्पत्ति थी पहले प्रतिपादन किया असत की उत्पत्ति नहीं होती है यदि भूमि में जल में से रस नहीं रहे तो पत्ते में फूल में फल में इसे रस कहाँ चाहेगा तथा स्थावराणाम स्थावराणाम चाहिए नाम अधिक है जंगम से स्थावरों का परिणाम जंगम में मनुष्य पशु मुर्गा आदि से पेड़ पौधे पत्र फल मूल खाते हैं जब उनका परिणाम मनुष्य पशु में हुआ मुर्गा आदि में रसादि वैचित्र दृष्ट विलक्षण है वही घास खिला गो को वही घास खाती भैंसी दोनों में दूध समान होता है समान घास खिलाएंगे तो समान प्रकार घास दोनों को खिलाएंगे दूध एक प्रकार होगा भिन्न हो जाता है अनिभिन्नात्मिका तो ये भूतो स्थावराणाम रसादि वैचित्र मनुष्य पशु आदि में दिखता है उपभुंजाना ही ते फलादिनी रूपादि भेद संपदम आसादयती फल पुत्र आदि खाते हैं मनुष्य पशु आदि रूप रसादि भेद को प्राप्त करते हैं एवं जंगमाना पारिणामिकम सागर से दुष्टम जंगम कठोर नाम स्थावर में दिखता है रुधिर आवश्यकाद किल दाड़िम फलानी ताल फल मात्राणी भवंती रुधिर आवश्यकाद किल आगे क्या लिया दाढ़ी मी फलानी मी हाँ दाढ़ी मी फलानी दाड़िम है दाड़िम कहते अनार दाढ़ी मी दाढ़ी दाढ़ी में फलानी अनार फल है ये अनार बड़े बड़े होते हैं इसके बीज में कुछ रुधिर रक्त आदि डालने पर बड़े बड़े हो जाता है ताल ताल फल मात्राणी ताल फल कितने इतने बड़ा बड़ा होता है ना ताल ताड़ ताड़ मान मालूम ताड़ मालूम नहीं पेड़ पुट्ठी में लिखते थे ताल पत्र के प्रति बड़ा होता है उसके अंदर सफेद सफेद खाते हैं वहाँ क्या है? जैसे नारियल सुपारी खजूरी से ताड़ भी होता है ऐसे ऐसे फल होता है उसके पत्ता का पहले पुखी बनाते थे पत्र ताड़ पत्र हिंदी में तो ताड़ कहते हैं ना पत्र आपको मालूम नहीं ताड़ा ऐसे पंखा हमारे पास था हाँ। हाँ। हाँ। वो तारा इतने इतने फल आता है तो दाढ़ी में भी इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ये जो कारपा से रुई उसके बीज को रक्त की लाल पानी रक्त नहीं रक्त रूप वाले लाख आदि कुछ देकर बीज को डुबा कर रखेंगे बाद में डालेंगे तो रुई भी लाल लाल हो जाएगा रुई कलर वाले रुई देखा है किसने रुई सफेद है ना तो उसमें करते हैं तो रंग हो जाएगा ऐसे कुछ जो उसमें मीठा नहीं है उसमें कुछ मीठा गुड़ा डालते हैं नारियल में और किसमें मिठास आ जाता है बीज में डालेंगे तो पेड़ में फल में आ जाएगा ऐसे डेवलप आजकल करते हैं एग्रीकल्चर वाले कृषि विभाग वाले बीज को कुछ करके उसमें कुछ मिलाते हैं अलग अलग निकालते हैं अलग होता है तो ताड़ पत्र जैसे ताड़ फल जैसे बड़े बड़े हो जाएगा अर्थात उसका परिणाम फल में आ गया जंग में स्थावर में आ गया उपसर्ग तो एवं भाष्य में एवं जाति अनुच्छेद सर्वम सर्वात्मक सर्व सर्वात्मक क्या हो गया परस्पर परिणाम स्थावर परिणाम जंगम में जंगम का परिणाम स्थावर में ऐसे सब होकर के जाति अनुच्छेदन जाति का उच्छेदन नहीं होकर के सर्वम सर्वात्मक कार्य हो गया सागर का जंगम जंगम का सागर और पृथ्वी जल का कार्य पेड़ पौधे में आ गया पेड़ पौधे का कार्य पशु पक्षी में पशुपति का गोबर आदि के द्वारा फिर पेड़ पौधे में ऐसे ऐसे बहुत सर्वम सर्वात्मक होगा ठीक है एवं सर्वम जल भूमि कम सर्वरसाद्यात्मकम जल भूमि आदि में सर्वरस है जो गन्ना में मिर्ची में नीम में है और जल भूमि में भी, भी है मानना पड़ेगा जल में नहीं तो पृथ्वी में मानना पड़ेगा सर्वरस तार्किक के लोग जल में तो नहीं मानते किंतु पृथ्वी में सब रस मानते तो मानना पड़ेगा नहीं तो फल में कहाँ खाएगा फल में पुष्प में पत्ता में जो रस आता है रस कारण में रहना चाहिए अनभिव्यक्त होकर के अभिव्यक्त नहीं होता किंतु है तत्र हेतु महा जाति अनुच्छेदन जाति जलत्व भूमित्व आदि जाते है जलत्व भूमित्व जाति तो सर्वत्र समान है किंतु रस भिन्न भिन्न है फल में सब फल का रस बराबर है ना एक प्रकार पत्ता का रस एक प्रकार है मधुरा अम्ल काल तो विवाह कर दिया किंतु कितने भेद है मधुरा माला भी छह प्रकार से कहते हैं ना ये छह तो है मधुरे में कितने भेद है तुलसी पत्ता पुदीना पत्ता नीम पत्ता नीम तो कटु में आ जाएगा सब पेड़ के पत्ते में कितने कितने फर्क है तो किस किस पत्ते में कैसे कैसे सुगंध है गंध भी कितने प्रकार सुगंध दुर्गंध दो भेद कर दिया किंतु पत्र पुष्पाद में सुगंध सुगंध एक ही प्रकार से है सुगंध में कितने भेद है कैसे वैचित्र देखो पृथ्वी में सब निकला गंध अलग अलग तो रूप डीजे मिट्टी में डाला पानी डाला उसमें रूप फूल कितने सुंदर कितने प्रकार रूप वाले फूल होते हैं गंध भी कितने हैं ऐसे रस भी अलग अलग है सब जलत तो भूमि तो जाति तो है जाति की प्रतिविज्ञा होती है सदैव जलम सयम पृथ्वी प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान अनुच्छेदा उच्छेद नहीं होता है नन सर्व चेत सर्वात्मक अंत वो सर्व से सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सन्निधारणाद समान कालीना भावना व्यक्ति प्रसजित सर्व यदि सर्वात्मक सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र सर्वता सन्निधानात् सन्निधानात् कस्य सर्वस्य सन्निधानात् सब की सन्निधि सब उपस्थित है सर्वस्य कब उपस्थित है सर्वदा सर्वम उपस्थित है सर्वदा सर्वम सर्वदा उपस्थित कहाँ सर्वत्र उपस्थित है कैन निरूपण सर्व प्रकार सर्व प्रकार रूप से गंध सब मिठा अमल कट सब पृथ्वी सर्वदा सन्निधान होने से समान कालीना नाम भावान व्यक्ति प्रसजित एक साथ ही समान प्रकार अलग अलग पदार्थ उत्पन्न हो जाए न खलु सन्निहित अविकल कारण कार्य विलंबित मरती कारण है कारण सन्निहित है विकल नहीं अर्थात तो सत्य है समर्थ कारण यदि रहेगा कार्य होने में विलम्ब होगा कारण नहीं तो कार्य होने में विलम्ब है और कारण यदि सन्निहित है तो कार्य में विलम्ब क्यों होगा सन्निहित अविकल कारण कार्य विलम्ब नहीं करेगा सब कारण सर्वत्र हेतु तो, सर्वदा ही सब सर्वत्र सब प्रकार कार्य उत्पन्न हो जाए उसी वृक्ष में मधुर फल भी लगे खटा भी लगे काता भी हो सुगंध हो दुर्गंध सब प्रकार हो जाए एक फल में भी इतः देश काला आकार निमित्त अपसंबंधान न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति रीति देश काल आकार निमित्त अपसंबंधात देश काल आकार ये निमित्त के संबंध नहीं होता है अपसंबंधा अप हाँ, हाँ, सम सम के स्थान पर ग अपबंधा अपबंधा अपबंधा तो संबंध नहीं समान कारण आत्मनाम अभिव्यक्ति न एक साथ में तो पदार्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है निमित्त है देश काल आकार आदि निमित्त है सर्वम सर्वात्मक होने पर भी किस देश में किस काल में किस स्थान में कोई पदार्थ होता है वो निमित्त नहीं होने के कारण सर्वम सर्वात्मक होने पर भी सर्व कार्य सर्वत्र सर्वता नहीं होता है यद्यपि कारणम सर्वम सर्वात्मकम सब कारण सर्वात्मक है फिर भी यो यस्य कार्य से देश कार्य का जो देश ही वो कार्य होगा तो नहीं होगा ये पेड़ पौधे फूल आदि भी बीज लेकर जाते हैं दूसरे स्थान में वहाँ बहुत होता है दूसरे स्थान डाले तो होता ही नहीं हिमालय में कितने बीज सुंदर सुंदर पुष्प बीज लेकर डाले बगीचा में वो नहीं होता है कोई ज़्यादा कोई पेड़ थोड़ा पौधा हो गया फिर मर जाएगा फूल क्या होगा फूल पेड़ पौधा भी नहीं होता है जो जहाँ होता है थोड़े फर्क में तो हो जाएगा जो बर्फ में हिमालय पार्वत में होने वाले बीज ला के डाले थे सुंदर पुष्प यहाँ नहीं हुआ इसी प्रकार अलग अलग किसी देश में कोई कोई फल होता है सर्वत्र नहीं होता है कार्य यद्यपि कारण सर्वम सर्वात्म तथा भी योग से कार्य से देश यथा कुंकुम से काश्मीर कुंकुम काश्मीर में होता है अन्यथा नहीं ऐसा सत्य भी पंचालादि तो न समुदाचार पंचालादि राज्य में पंजाबादि में अभिव्यक्त नहीं होगा कुंकुम काश्मीर में होगा इतने न कुंकुम से पंचालादि अभिव्यक्ति पंचालादि तो कुंकुम के अभिव्यक्ति नहीं होती है एवं मिदागे में न प्राभुत समुदाचार ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु अभिव्यक्त नहीं वर्षा नहीं होती वर्षा ऋतु न तथा शालिना तो समय धान भी नहीं होते ग्रीष्म काल में एवं न मुर्गी मनुष्य प्रसूते मुर्गी का बच्चा मनुष्य होता है पेड़ होता है बकरा होता है मनुष्य न प्रसूते मुर्गी क्या बच्चा सर्वात्मक होने पर भी अपने जाति के अनुसार होता है क्यों नहीं न तस्या मनुष्य आकार समुदाचार मुर्गी में मनुष्य आकार अभिव्यक्त नहीं है इसलिए आकार रूप निमित्त नहीं हुआ एवं न पुण्यवान सुख रूप भूते अपुण्यवान सुख भोग करता है पापी अपुण्यवान पापी सुख भोग नहीं करता है न तस्मिन पुण्य निमित्त तो समझा जाए पुण्य रूप निमित्त तो वहाँ अभिव्यक्त नहीं है अभी पाप कर्म फल हो रहा है सुख नहीं है तस्मा देश काल आकार निमित्ता नाम अपबंधा देश काल आकार निमित्त ये सब अलग अलग निमित्त है उनके अपबंधात का तो अपगमात देश काल आकार निमित्त नहीं होने से न समान कालम सब पदार्थ में समान कालता नहीं है नाम का तो भावाना पदार्थों की अभिव्यक्ति समान काल में नहीं है ये जमीन में बहुत प्रकार बीज गिरे रहते हैं जिस समय जो बीज अंकुर होना पानी की डालने पर भी अन्य समय में नहीं होगा वो समय आने पर अपने आप हो जाता है जितने पानी वर्षा में डालो वो बीज में ठंडा में डालो बीज ऐसे रहते हैं बहुत प्रकार बीज अंकुर तो नहीं होता गर्मी के समय में पानी नहीं डालो तो भी निकलता है नीचे से मालूम है कुछ जमीन में ये गर्मी के समय पेड़ पौधे अभी गर्मी में पेड़ में पत्ते आ जाते हैं आते ना नए पत्ते ठंडी में पानी का अभाव नहीं पत्ते सूखते हैं अभी नए पत्ते आते हैं इसी प्रकार कुछ बीज अंकुर हो जाता है गर्मी में अन्य समय में नहीं होता है कोई ठंडी में होता है तो गर्मी में नहीं होगा ये सब अलग अलग समय में होते हैं इति तदेव धर्मान विभजित तेसु धर्मीण अनुगम दशो धर्म अलग अलग प्रकार हुआ समान काल अभिव्यक्ति नहीं उसमें धर्मी एक दिखाएंगे सर्वत्र अनुगत होने वाले धर्मी एक है ओम